पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधि क्या है कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सु, सुनाओ हंस सबल सुनदासा अगमदीप अगह बासा भव सागर दम दंड दमाना धर्मराय का है तलवाना पांचो ऊपर पद की नगरी बाट विहंगम बंग की डगरी इन पांचों ऊपर कहते हैं एक और रास्ता से वो क्या है वो बताता हूं इधर हाँ। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट बाट विहंगम बंक की डगरी वो बंक की डगर यानी रास्ता है बाट है धर्मराय से हमारा दावा भवसागर में जीव भरमावा इस निरंजन से हमारा दावा है इसके ऊपर हम मुकदमा करेंगे जो हमारी शरण में आ जाएगा कितने झूठे इनका कर्म लगाए और इतने नाजाज इनके साथ कर रखा है हम तुम्हारा मुकदमा लड़कर यहाँ से पार करवाएंगे <clears throat> धर्मराय से हमारा दावा भवसागर में जीव भरमावा हम तो कहें अगम की बानी जहां अवगत अदली आप बिनानी हम तो सतलोक की बात बताओ भाई और जहां पर वो पूर्ण परमात्मा रहते बंदी छोड़ हमारा नामम अदर अमर है अस्त्रिठामम बंदी छोड़ हमारा नामम बंदी छोड़ इस काल की बंद ते छुड़वा के इस जीव ने और हम सतलोक ले जाएंगे फिर तुम्हारा जन्म मरण ना होने जहां कुत्ते गजे ना बन दे इसलिए हम बंदी छोड़ कहलाते हैं इस बंद से छुड़वाएंगे बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम ठामम मन स्थान अजर अमर वो सतलोक स्थान है जो कभी नहीं मरता जुगन जुगन हम कहते आए जमजौरा से हम छुटाए चारों युगाम हम आए और चारों युगों में इस काल से जीव छुटा गए सतनाम सारनाम दे गए जिसको तुम भूल चुके हो अब नो बताओ एक भगवान तो शास्त्र एक का चाहिए था और एक ही विधि उसको पाने की चाहिए थी और सभी जीव मात्र की एक भाषा चाहिए थी जो तो मनुष्य शरीर में आ गई सबसे बड़ा जुल्म करा था हरियाणा में तो समझा दें बिहार में क्यों कर समझावा बता जाके भाषा बदल गई पंजाब में कैसे समझाएं वो हमारी समझते ना और भाई विदेशा में तो कहना है कैसा और के में बोल रहे तो ऐसा जुल्म क्यों किया कि हमारी सारे की एक भाषा चाहिए थी एक शास्त्र चाहिए था अगली सा बढ़िया भगवान से था क्यों धोखा कर रखा है पल पल पे एक शास्त्र कुछ बतावा एक शास्त्र गलत बतावा दूसरा ठीक बतावा तीसरा उसने बेसरा तो ये क्यों यूं जेड़ा क्यों किया हमारे संग में पर धोखा नहीं था ये अड़चौड़े में दिखने लग रहा तो ये बंदी छोड़कर भाई या जेड़ा सुल दिमागा फिर बेड़ा पार से फिर भक्ति में रुचि बनेगी और फिर तेरा दिल लागेगा जुगन जुगन हम कहते आए जमजोरा से हंस छुटाए जो को मान शब्द हमारा सागर न भर में धारा जो हमारी बात मान ले ये चौरासी में घूमन दूंगा बेड़ा पार कर दूंगा या मैं सुर शब्द का लेखा तन अंदर मन को किन देखा दास गिरी अगम की बानी खोजो हंसा शब्द सैदानी उस तो सत शब्द ने सार शब्द ने ढूंढ लो भाई तुम तो फिर छुटकारा हो जाएगा अब कबीर साहब के अनुसार मैं आपको सृष्टि रचना की बानी सुनाता हूं दस मिनट की पांच मिनट की बानी यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही है एक राम न्यारा इस संसार से एक नारा न्यारा राम है तीन लोग के राम ब्रह्मा विष्णु महेश और इक्कीस ब्रह्मंड का राम ज्योत नरेंद्र जिसको ब्रह्म सनातन भगवान कहते हैं और सात संख ब्रह्मंड का मालिक पर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मंड के परमात्मा राम है पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष निरंजन ईश है परब्रह्म ईश्वर है और पूर्ण ब्रह्म भगवान परमेश्वर है ब्रह्म निरंजन है और पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है अवगत पुरुष है और पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है अब हम पढ़ा कर सुनते थे भी ब्रह्म और पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म क्या अंतर है ने बोला कुछ भी अंतर कोई ना ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है तत्करा बोला फूटे बाग बता <clears throat> दादा और परदादा एक ही होते हैं मैं बोला एक ही बात है उसन ब्रह्म कह दे उसन पर ब्रह्म कह दे दादा और परदादा एक नहीं है नाम दो हैं तो दो उनकी पदवी भी दो ऐसे और व्यक्ति भी दो से ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ पता इससे उत्तम ब्रह्म एक और सजो जो कि जिसको पर ब्रह्म कहते हैं वो अक्षर पुरुष और अवगत पुरुष है और फिर पूर्ण कहा ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण की आवश्यकता समझ ही नहीं चाहिए था इस डिक्शनरी में तो पूर्ण है तो कह रहे और वो पूर्ण भी नहीं आ रहा पाओगा तो ये बताया कि जग से कई एक राम नहीं आ रहा तो यही कारण मैं कथा पसारा इसलिए भाई यह कथा मैंने सुनानी पड़ी और शास्त्र उठाओ आपके ये पुराणों से मिलाओ नौ की में लगी जाकर वो वहां ब्रह्मा वहां विष्णु वो शिव कौन है महाशिव जो तीसरा और दिखा था उन्होंने वो नरेंद्र ने क्या बोल बलैया कर रखी है अपने रूप तीन और बना रखे हैं और वहां नारे नारे इस माया के रूप बना के अपना मौज मारा से उनका महाब्रह्मा महाविष्णु महा शिव नाम कर रखा है और ये जिन जिन विष्णु भगवान की और ब्रह्मा की शिव की तुम्हें जानकारी है ये तो बहुत छोटे सूत्र के प्राण भगवान से इनको तो उन ब्रह्मा विष्णु में इसका बिना बेराज बाप का पुराण बताने लाग रहे और वही हम तो विमान में है जब माता ने घुमाए तो बेरा पैटिया और उससे पहले तो इंद्र भी और गणे थे वो जो पैदा हुआ उससे पहले तो और भी थे अब ये बात समझ में आओगी जो बात बनेगी कि इसने आपका खेल खेल रखा है माया और निरंजन ने यही ज्ञान जग जीव सुना वो सब जीवों का भ्रम न साहब अब मैं तुमसे कहूं चिताई तीन देवों की उत्पत्ति भाई तीन देवों की त्रदेवों की फिर मैं विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं साहेब की ने कजब तमाशा सो सब मैं कहूं तुम्हारे पासा कुछ संक्षेप कहूं गौर आई सब संशय तुमरे मट जाई भरम गए जग वेद पुराना आद राम का भेद न जाने ये सब वेद और पुराण मुड़ जो बैठे कि उस पूर्ण परमात्मा का तो बेरा भी कोई नहीं राम ज्ञानी सुने तो अर्जा लगाई मूर्ख सुने तो गमना पाई अब नादान सुनेंगे जिन्हें ना शास्त्र पढ़ रखे ना सुन रखे वह तने कहूंगा हमने कदे सुनिए कोई ना सत्य मारा बैठा बैठा उड़े अन्य को जो बुद्धिवान होंगे वो पकड़ेंगे इस पार्ट को धर्मदास जो बुद्धिजीवी होंगे शास्त्र मेरे पास रखे जिन्हें पढ़ना पढ़ के देखो वैसे माइक मरु के मारू को पागल हूं मैं शर्मा दर्द है मेरा इस मार्ग की पीएचडी की मैंने जब डंडोरा पीटा वैसे थोड़ा कहा जा माइक के ऊपर अप्रमाणित वस्तु एक दिन भी कोई ना चाल है माँ अष्टंगी पिता निरंजन माँ अष्टंगी तथा निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन पहले की निरंजन राई पीछे तन माया उपजाई पहले ज्योत निरंजन और फिर बादशाह माया बनाई <clears throat> सतपुरुष ने <clears throat> माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभ्या इस माया का लड़की का सुंदर रूप अति शोभा बहुत प्यारा सुंदर रूप देख और देव निरंजन तन मन लोभ्या यानी उसमें गंदापन आ गया कामदेव धर्म राय सताए देवी को तुरत दर खाए पेट से देवी करी पुकारी ऐसा वह मिलो उभारी टेर सुनी सतगुरता आए अष्टंगी के बंद छुड़ाए धर्मराय को हिकमत कीना नख रेखा से भग कर लीना धर्मराय की ने भोग बिलासा माया को रही तब आशा धर्मराया और माया साजे तीन लोक इन्हीं से उपराजे तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए कति खोल का बता रहा कबीर साहब ने कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए तीनों देव विस्तार चलाए इनमें यो जग धोखा खाए इन तीनों ने यो सारा विस्तार चला रखा और इनमें यो जग धोखा खाए इन्हीं की साधना करें स्वर्ग तक पहुंचे फिर नरक भोगे गधे बने कुत्ते बने चौरासी का गीड़ा अनुग्र को परमात्मा माना हमने परमात्मा किसे कहते हैं एक शक्ति है जिसमें जितनी शक्ति है उतने वो मालिक हैं ये तीन लोग के राम से तीन तीन देव विस्तार चलाए इनमें ये जग धोखा खाए पुरुष गम कैसे कह पावे काल निरंजन जग भरमावे अब तब माँ ने भी देवी पुराण में लिख रखा कि उन तीनों को चक्कर में डाल रखा विष्णु का है मन दर्शन तो है तेरे माँ इसके पर छोटे से दिखी थी अब ये पैदा करके माँ भी गुप्त होगी और फिर इनको ऐसे खेल ख्याल खिला के फिर गुमराह सा करके इन्हें बोले जाओ सागर मंथन करो सागर मंथन करा फिर बोला तुम शादी कर लो शादी क्यों कर करा माँ की गिला अपने बोले सागर मंथन फेर करो तीन रूप फेर बनाए और तीनों ब्याह दिए और फिर मेरा ना कि इच्छा हुआ माँ कहा जब याद करोगे जब आऊंगी इतना मैं गुप्त रहूंगी ये काम से यहाँ पर सारे सीधे क्यों ना तो एक परिवार का रहा अपना सारा यह समझ में नहीं आ रही क्या यो जग नए तो पैदा हुआ इसमें नए कामयाबी मिला सर अब यहाँ पर अफसर अगर आम आदमी में बैठने लाग जाना उसने अफसर ना मानना है और वो एक कमरे में रहे ना डरता है और नो सब की घी बंदी रहे ये लोग नो चल रहा है यही सा गंदा लोग से इसमें आम रहने लग जाए अब मैं एक कमरा बनवा लू न्यारा और टाइम दे दो इतने से इतने समय मिलूंगा भाई और देश लाइन लाग जाए और मैं पढ़िया त्रियान ढोने सोती महात्मा ना होगा या कुदरती बात है लेकिन हमने न्यू उबारने हैं हमारा मार्ग वैसा नहीं है कि गुप्त रह गए हम तो कति चौड़े में रह गए और डोल का डंका सच्चाई कूट के और स्टेबिलिटी के साथ ऊपर उठाएंगे तो बनावटी तिला तड़का बना दो बीड़ी शराब हम छुटवावे ना नाम नहीं जाते तीन सौ साठ पे ना ले और नाम लेकर जय जिसने फिर ये <clears throat> व्यसन कर दिए उसके नाम खत्म बेशक राजीव है हमने नाम ले रखा कति नहीं चल रहा फेल से वो अगर मैं ऐसे नाम दो तो दस लाख आदमी इकट्ठे कर देता चार साल में कति बीड़ी शराब मांस तमाखू कति छटवा गए और ये धोख पूज ये खाम काड़ जो डला रखे ये गंडे तभी सब तुड़वा गए एक भगवान की भक्ति देता उस परम पिता की और वो सुख हो रहे हैं गिनती गिनती ना होती उनके घर में आज एक गांव में बोला अरे महाराज जी बात तो बताओ सारी साची साची पर एक छुट्टी दुआ दे ओके ओके की अले हम सारा गांव नाम ले लेंगे मुका हमने कौन चाहिए इसे टोल की कच्ची जरूरत है खोने वहां बता लूले लंगड़ा ना फौज में भर्ती करके क्या करेंगे भाई वहां तो स्वस्थ आदमी चाहिए जवा तो इस प्रकार वहां भी काम देंगे वहां तो निर्मल होकर जाना पड़ेगा बिरा इसे बड़का खेल को ना और कति आसान भक्ति ना व्रत रखना ना माता दोखनी ना कना गत काटने ना तपस्या करनी एक उस ईश्वर का भजन करना एक नाम सुमन करना इस तो आसान काम अलबाते करो बरोटे डोंते करो दुकान पर करो खेत में करो नौकरी पर करो नाम का जाप कमाई करो उस कमाई के आधार पर विमान आओगा भगवान सतपुरुष का और वो ले जाएगा आपको सफलोक तीन लोग अपने सुत दिन <clears throat> तीनों देव विस्तार चलाए इनमें ये जग धोखा खाए पुरुष गम कैसे कह पावे काल निरंजन जग भरमावे तीन लोग अपने सुत दीना और सुन निरंजन बासालीना तीन लोग अपने बेटिया तय दे रखे हैं और आप उस सुन यानी सत अपने निरंजन लोक में इक्कीसवें ब्रह्मंड के आखिरी लोक में ना उड़ा ब्रह्मा जा सके ना विष्णु ना माता जा सके योगी जहां कैसे योगी तो ब्रह्मा विष्णु से ऊपर नहीं हो सकते यहाँ के जो तीन सौ बात बनाओ कोई और जब ये नहीं जा सकते योगी कहां जा सकते इनको और सिद्धियां दे दे नरेंद्र उड़न लाग जा उसने छू मंत्र कर दे उसने श्राप दे दे अड़े ती राजी हो जाए थोड़े दिन स्वर्गलोक में बैठा दे पर गदे बना दे इन योगियों का ये हालत लग रखी कबीर साहब ने कि ये साधना करते हैं अलख निरंजन सुन ठिकाना ब्रह्मा विष्णु भी भेद न जाने तीन देव सो उनको धावे निरंजन का वो पार ना पावे ये तीनों लोग देवता भी निरंजन का ही भजन करते हैं उनका वो वो भी पार नहीं पा पाए ब्रह्मा विष्णु शिव ना बचाए ये कल खाए पुन धून उड़ाए धूल उड़ाए इनके सुत हैं तीनों देवा अंदर जीव करते हैं सेवा ये तीनों उसी के बेटे हैं और ये अंधे जीव इन्हीं के चरणों में पड़े हुए हैं अर्थात इन्हीं तक सीमित है ये नहीं कहा महाराज ने इनका दान नहीं करना या जाप नहीं करना ये तीन लोग के मालिक से और इनका जब हम मान लो प्रधानमंत्री तो जिसका मेल हो जाता है और फिर रहे वो <clears throat> किसी शहर में तो वहां के एसपी और डीसी उसको साथ देंगे उनसे मेल रखना पड़ेगा उसने तब वो लाभ कर देना उनने पर देंगे उसके हुक्म थे इसी प्रकार महाराज के तीनों देवा जल में बसे गर्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश इनका भी हमने इनको साथ लेना है ये हमारे साथी हैं सबसे बड़े यहाँ के अब पी हमारा सबसे बड़ा साथी है और डीसी हमारा सबसे बड़ा साथी है अम्बेसिक प्रधानमंत्री तो मेल कर रहे हैं यहाँ का सुख तो ही देंगे और ये खुश होकर देंगे हाजरी लाओगे आपके घर के ऊपर तो उस सतपुरुष तो मेल हमें पाचे फिर इन भगवानों की आपने आराधना करनी है लेकिन इस रूप से नहीं करनी इस रूप तय जैसे पतिव्रता होती है अपने जो सुरती सौ की सो पति में पर देवर जेठ जेठानिया की भाई तो पूरा आदर करना पड़ेगा ये परिवार सा अपना अब ये नहीं उसका मतलब इस भाव से लेना फिर हमने तीन के सत हैं तीनू देवा अंधर जीव करते हैं सेवा काल पुरुष का होनी चीना काल पाए सभी गलीना ऐसा राम सकल जग जाने हैं आदि ब्रह्म को कोई ना जाने कोई नहीं पहचाने आदि ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष ने कोई नहीं जाना अब गरीबदास जी की पानी आपको सुनाता हूं माया आद निरंजन भाई अपने जाए आप खाई ओए होए अपने जाए आप खाई आप हमने पैदा करे आप पालन आप मारे मौज मारे निरंजन हमने खाए माया आज निरंजन भाई अपने जाए आप खाई ये निरंजन ये गरीबदास जी की पानी है धर्मा विष्णु महेश्वर चेला ओम सोम का है खेला और शिखर स्वन धर्म अन्यायी जिन शक्ति दायण मैल पठाई शिखर सुन में ये निरंजन अन्यायी बताया गरीबदास महाराज ने अन्यायी पे भी कसर से कुत्ते बना के छेड़ दिए और गधे बना के और सुअर बना के गोबर खावे बताए और अन्याय में इससे फालतू क्या करेगा फिर हमने मारे बालका ही खावे महाराज कहे शक्र सुन में धर्म अन्यायी धर्म राय निरंजन और शक्ति डायण मैल पठाई या प्रकृति निराकार रूप में कहती है डायण यहाँ पर बेचती सबको मोहित कर रखा प्रकृति ने इस निराकार शक्ति ने उसकी ने लाख ग्रह नित उठ रूती माया आदि तकत की कुती एक लाख उठ तेनो का रोज खा ले से लाख ग्रासा नित उठ दूती माया आदि तकत की कुती सवा लाख घड़ी नित भांडे हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे सवा लाख घड़ी नित भांडे ये भांडे हैं ये शरीर सवा लाख रोज बनावे एक लाख न खा ले ये तीनों चेला बटपारी सरदे पुरसा सरदी नारी खोखापुर में जीव भुलाए सपन बिस्त बैकुंठ बनाए ये सपन बना रखा है स्वर्ग भी ये रहट का कुआ लोई यागल बन जा है सबका ही रहट का कुआ क्या होता नीचे तो बड़ी बाल्टी और ऊपर खाली आई खाली बाल्टी फिर बड़ी फिर चाली फिर बुरी फिर चाली यहाँ पुन और पाप कट्ठे करो स्वर्ग नरक में दोनों खाली कराओ और फिर बाकी चौरासी का गेड़ा नौका नौका तो यो रहट का कुआ लोई यागल बन जा है सब कोई कीड़ी कुंदर और अवतारा हर डोर बंधे कई बारा अरब अली इंद्र हैं भाई हर डोर बंदे सब आई शेष महेश गणेश्वर ताही हर डोर बंदे सब आही सुकरादिक ब्रह्मादिक देवा हर डोर बंदे सब खेवा कोट करता फिरता देखा हर डोर कहूं सुन लेखा चतुर्भुजी भगवान कहावे हर डोर बंदे सब आवे ये चतुर्भुजी चार बुझा के भगवान कहावे ये भी जन्म मरण के में बचा नहीं रखे कहते हैं सात एक सात ब्रह्मा मर जाते हैं एक इंद्र मरता ना ये शिव मरता विष्णु मरता है सात ब्रह्मा खत्म होते हैं जब एक विष्णु का अंत होता है और सात विष्णु मरते हैं तब एक शिव का अंत होता है ये महापनों के ये भी ना बचते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे इतनी भी लंबी आयु है तो भी अंत में मरोगे और सतगुर लगे ना कान ना बैठे संतरे ओए होए कोई पूर्ण संत नहीं मिले तुम्हें ताकि साधना ठीक ठिकाने की बन जाती आगे लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कहिए इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया निरंजन काल कहिए इन पांचा न मिल पर पंच बनाया भाई वाणी हमारी लइये हमारे इशारे को पकड़ लेना तुम जो मैं कहने जा रहा हूं इन पांचों मिल जीव अटकाए जुगन जुगन हम आण छुटाए इन पांचों मिल मिलकर ये जीव अटका रखे और गीता जी में लिख रखा कल सुनाऊंगा गीता जी आंख तो जब खोलेंगे गीता जी में क्या लिख रखा भगवान ने कि भाई अर्जुन इन तीनों गुणों ने ये जीव जा रखे हैं ये नाम दे कर रहे हैं तीन गुण कौन कौन से गर्भा विष्णु महेश रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और भाई तम गुण शिव तो क्या तीनों गुणा ने ये सारे जीव अंधे कर रखे और वही बंदी छोड़ कर इनकी तो बूंदी लागर की ताली बढ़िया लाग गए चाड़ा पैट रहे इनकी कह देना ब्रह्मा विष्णु महेश ने जीव ब्रह्मा रखे हैं और ये अंधे करें बैठे हैं बता विष्णु जी ने बस एक लाठी एक फुट कूदा आदमी बिना ज्ञान के और गीता जी में पढ़ाऊंगा तो बेरा पाटेगा भगवान नरेंद्र नाग का भी ने कह राखी है कि तीनों आनंद देकर रखिए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे कल्प अंत होगा जब कोई ना रहे सारे खत्म होंगे तो गरीबदास जी ने नारी के कह दी इसकी काली क्यों मानो तुम कबीर साहब की अर्थात ना तो तुमने शास्त्र पढ़े और यह लागत कुनिन के सीकड़ भी पर यह सत्य तो मीठी हो गया आपने देख लेना यह सुन दो पांचों दिन का सत्संग इन पांचों में प्रपंच बनाया इन पांचों मल जीव अटकाए युगन युगन हम आण छुटाए बंदी छोड़ हमारा नामम अदर अमर है अस्थिर ठामम पीर पैगंबर कुतुब ओलिया पीर पैगंबर कुतुब ओलिया स्वर्णर मुनि जन ज्ञानी और एता को तो रा ना पाया ये काल का बंदे प्राणी ये ब्रह्मा ये कहते तीन एक तैतीस करोड़ देवता अठासी हजार ऋषि भी काल साधना कर का काल का बंदे बैठे एता ने तो सतलोक का राह को नहीं पाया ये काल का बंदे प्राणी धर्मराय का धूमाधाम में जम्पर जंग चला हूं जोरा को तो जानना दूंगा अदल बांध घर ले आऊ अब अपनी शक्ति बताते हैं कबीर साहब गरीबदास काल अकाल दोनों को मोसू और महाकाल शर्मुंडो और मैं तो तख्त हदूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढो क्योंकि मेरे आ गई काल खड़ा भी कौन पावे नरेंद्र सत कबीर साहब कहते हैं कैसे ना पावे माया माया मोला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई ये जो स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई नो कहीं निरंजन अड़ांडी पाक रहने का मैं भगवान सो तेरा बुलाओ अरे भाई भगवान तो ठाडा सही किस ब्रह्म का भगवान पर सतपुरुष का आगे कुछ भी कोई ना मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चंतन खाई जो स्वरूपी भया निरंजन मय करता भाई सटासी दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी एता मैं तो जमका तलबाना चलियो पुरुष कसोरी मुलाकात का माथा दागू सतकी मोर करूंगा और पुरुष को हंस ले जाऊं रास्ता ना रोकण दूंगा न कई इस नाम का आधार ले लो सतनाम सार नाम का और फिर देखो तुमने निरंजन क्यों करो कैसे तो अभी ना पाओ मेरे सब ना, सा, नाम के सामने धर्म हम तो बंदी छोड़ कहा वहां धर्म राय है चकवे ये निरंजन तुम्हारा नौकर से जिसने तुम भगवान मान रहे हम तो बंदी छोड़ कहा वहां धर्म राय है चकवे सतलोक की सकल सुनावा बाणी हमारी अखवे अखवे माने अवर्णनीय बात समारी गीता शास्त्रों में कोई ना इसलिए तुम न बुंदी सी लागे एक बात तो। अवगत अचली अबक अब अचल अभंगी अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए अगर अलील चक्र है मेरा जिससे हम चल आए और पांचों पर परवाना मेरा हम बंद छुटावन आए इन पांचों के ऊपर मेरी प्रभुता है ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया के ऊपर जहां ओंकार निरंजन ना ही ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही जा करता ना ही जान भगवाना काया माया ना पिंड निपराना पांच तत् तीनों गुण ना ही जोरा काल दीप ना छाई अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं अब कल आपको लाऊंगा इससे बार की एक भी बात नहीं कहूंगा और यह गीता जी आपने सौ बार पढ़ रखी पर यह बात आपने कभी गोत्र भी ना हुई होंगी जो कल आपको बताई जाएंगी बोल सतगुरुदेव आप कल सुन रहे थे पंद्रह तारीख के सत्संग में कि किस प्रकार ये सृष्टि रची गई इसका उद्देश्य क्या था जो शास्त्रों में ज्ञान अधूरा था वो कबीर साहब के शास्त्र ने वो ज्ञान पूर्ण कर दिया आज 16 फरवरी सन ये ताजपुर गांव के अंदर परमात्मा की कृपा से अमृत बरस रहा है इसमें कोई भाग्यवान प्राणी ही लाभ उठा पाओगा कहते हैं सकल पदार्थ हैं ही भाग बना नर पावन आए कर्मों के प्रभावी प्राणी ही सत्संग में आया करते हैं अपने सौकाम को त्याग कर भी सत्संग सुनने की चेष्टा किया करते हैं पाप कर पाप कर्मों के दबाव में प्राणी नकम्मे व्यक्तियों के पास जाता है और वहां पर शराब आदि में अपने परिवार को भी नष्ट करे शरीर को भी नष्ट करे और धन न भी खो का आवे वो पाप कर्मों का जो दबाव है उसको ऐसे स्थल पर ले जाता है शुभ कर्मी प्राणियों को दबाव बनता है शुभ कर्मों का वह सौ काम त्याग के और सत्संग की तरफ आप खिंचे आते हैं अब शुभ कर्म अशुभ बढ़े कहां से एक बार अगर आप सत्संग में आ जाते हो तो आपके शुभ काम बढ़ने शुरू हो जाएंगे इतना दबाव बन जाएगा शुभ कर्मों का कि आपको मुक्ति तक ले जाएगी एक पाप कर्म ले जाता है ऐसे गंदे व्यक्तियों के पास और वहां जाकर के वो कोई सा निकम्मा काम कर दे कभी चोरी करे पहला सल्फा शराब पीवे फिर चोरी का में सीखा और फिर मनमाना डाके मारने लग गया फिर गोली से मारेगा अर्थात एक पाप कर्म ने गंदे व्यक्तियों से मिलाया दुष्कर्म शुरू हुए और वह दुष्कर्म इतने बढ़ गए कि फांसी की सजा को प्राप्त हो गया इसी प्रकार शुभ कर्म एक प्रेरणा देता है अच्छे व्यक्ति से मिलाता है वो व्यक्ति उसको सत्संग में की तरफ प्रेरणा देता है और कभी ना कभी उसके मन में उस शुभ कर्म के दबाव में ये समय भी मिल जाता है सत्संग में आता है एक दिन सत्संग सुनेगा मनमाना धीरे धीरे इतना बट जागा कि मुक्ति तो ही पा जागा इसी प्रकार शुभ और अशुभ संगत और कुसंगत का इस प्रकार अंतर होता है तो शुभ अब बढ़ने शुरू हो गए जो प्राणी सत्संग मारने शुरू हो गए पहले हम ही थे न सोचा करते इतना दान क्यों करो जो दुनिया ग्रहण लायक रही बालक भूखे मर जाएंगे चलो न सोच कर गया हम ना करेंगे इतना नाम तो लेते रहेंगे फिर ऐसी स्थिति आ गई डटे ना डटे और दूना लाभ होने लग गया तो न्यू ज्ञान होना शुरू हो जाता है विश्वास भी होता है <coughs> जैसा कि आपने सुना कि और बात तेरा काम नहीं आवे संता शरण लाग रे अब संतों की शरण में लगने से ये सुथरे सुथरे काम बढ़िया बढ़िया कर्म होने शुरू हो गए और संतों बिना इन बातों ने बतावनिया भी नहीं इन शुभ कर्मों पर लावनिया भी नहीं वैसे तो <coughs> अच्छी बातें सभी बता देंगे लेकिन संत में एक सबज शक्ति और देता है मालिक वैसे तो स्वाभाविक बात सभी कहे अपने माता पिता भी बेटा बेटी ने कहे बेटे यू काम गलत से ऐसा नहीं करना चाहिए पर असर नहीं होता उनके और संत की बात का असर बन जाता है क्योंकि उसमें परमात्मा की शक्ति कुछ काम कर रही होती है जिसकी जितनी कमाई है और उस बिना यू मन पापी है नहीं मन स्वयं निरंजन है <clears throat> ये मन स्वयं निरंजन है ये काल है और ये इक्कीस ब्रह्मांड में फुल फलैस यानी पूर्ण परमात्मा है पूर्ण शक्ति है और ये ना तो ब्रह्मा के काबू मावा ना विष्णु के माव ना शिव के माव ना माता के बस का तो ये मन इनके काबू का सैकोन है ये इन तबार की शक्ति है जब विष्णु जी ने आकर अपनी माँ को बता दिया कि माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए तो बड़ी प्रसन्न होती है शेरा वाली अष्टंगी माई आदि भवानी जो बोली बेटा तू सतवाजी होगा तेरी जग में पूजा होया करेगी और आजा मैं तेरे तेरे को तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ कहती है बैठ बेटा और तेरे कुटी में जान लगा और सेंसरार कमल की तरफ चल अब देख इसमें अजाना ज्योतियां झलमेल झलमेल हो रही है ये तेरा पिता है इसके दर्शन ये तुम्हारे पिता के दर्शन है जो एक हजार रोशनियां जो सेंसरार कवन में तुझे दिखाई दे रही है और ये मन ही भगवान सा तेरा ये तेरा पिता है मन निरंजन है इस मन को ही इसी को निरंकार कहते हैं मन को ही निरंजन को ही निरंकार कहते हैं कबीर साहब कहते हैं देख माई बोली देख पुत्र तो पिता बेटा हूं तेरे मन का धोखा मिटाऊं मन स्वरूप करता कह जानो मन तन दूजा और न मानो स्वर्ग पताल और मन केरा मन अस्थिर मन है अनेरा निरंकार मन ही को कहिए मन की आशा रही है देखो उलट सुन में ज्योति और जहां पर झलमिल झलमिल झालर होती ये तेरे पिता के दर्शन है इसी का योगी जन कहते हैं प्रकाश दीक्षा बस अब ये मन क्युक्र काबू धर्म और विष्णु में इसके और इसी ने निरंकार भगवान कहते हैं तू ही एक निरंकार और ये निरंकार काल है और इसी की हम पूजा कर रहे हैं ठीक है सुविधा जरूर मिलन से क्योंकि ये कोई छोटी शक्ति को ना तीन इक्कीस ब्रह्मंड का भगवान और ये भी बहुत लाभ दे सब प्राणी में लेकिन तपत शिला का संदट ये ये नहीं मिटा सकते और ना ही जन्म मरण मिटा सकता क्योंकि इसने एक लाख जीव रोज खाने होते हैं धर्मदास जी को कबीर शाह बता रहे हैं सुनो धर्मनी यह यम की बाजी ये मन काल नरंदन की ये सारा खेल निरंजन का खेल हुआ से सुन धर्मनी ये यम की बाजी अर्जो ची ने ना पंडित का जी ना तो बेचारे पंडितों ने बेरा वो भी शास्त्रों के आधार पर <clears throat> आगे ज्ञान प्रचार शुरू कर दिया जो विशेष पंडित जो विद्वान पंडित जो निष्काम पंडित बिना लालच के निर्लोभ से जो प्रचार पर्श किया करती थी तो उनसे बहुत लाभ इस मंडल का इस मंडल का मिलता था इसी प्रकार काजी सोजो कदा न है काजी पदवी इतनी उत्तम हुआ करती जीव हिंसा नहीं करते थे <clears throat> और जैसा भी उन्होंने अपने कतेबों में ज्ञान था वो सत प्रचार किया करते थे उनको काजी कहते थे यहां महाराज कहते हैं उस समय के जो पंडित और काजी थे उनको भी बेचारों को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये काल ने क्यों कर खेल खेल रखा था जो यमकों करता बाक है जो इस काल ने परमात्मा कहता है निरंजन को और तदे सुधा नर के चाक है वो व्यक्ति जो निरंजन तक भी परमात्मा मान रहा है जो यम को करता बाखे तुझे सुधा नर इसके इसके चाक है पांचों मिलिए रचना कीन्या और कच्चा रंग सो जीव को जीना पांचों पांचों कौन कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए गरीबदास जी कहते हैं इन पांचों मिल पर पंच बनाया भाई बानी हमारी लगे हमारे विचारों को सुनो हमारी बानी को सुनो जो हम कहना चाहते हैं इस पर विचार करो इन पांचवा ने मिलकर इस काल रंजन ने और तीनों इनके पुत्र और माया इन पांचवा ने मिलकर ये जीव पर मारा क्या पांचों तो तीनों गुण जाने और चौदह यम तेई संग पहचाने यही विद की नरकी काया और मारे खावे बहुर उपजाया इसी प्रकार इन्होंने ये मनुष्य का शरीर बनाया है और इनको बनावे मारे और खावे यही ओंकार ओंकार है वेद को मूला इस ओंकार में सब जग बोला यही ओंकार वेद का मूल है अर्थात चारों वेदों की जड़ है ओम मंत्र और ओंकार यानी निरंजन ये चारों वेदों में इन्हीं का वर्णन किया गया है इन्हीं का निर्गुण सरगुण करके निरंजन भगवान की ही महिमा गाई गई है ओंकार है वेद को मूला ओंकार में सब जग बोला यही ओंकार निरंजन जानो और पुरुष नाम सो गुप्त मानो यही ओंकार काल है निरंजन है ज्योत भग ज्योत स्वरूपी भगवान है और परमात्मा का नाम तो गुप्त है जैसे निरंजन ने इसको गुप्त कर दिया कैसे किया जैसे जब हम निरंजन को देख रहे थे तपस्या करते हुए को सतलोक में तो हमारे मन में यह धारणा उत्पन्न होगी कि भाई ये तो घना बढ़िया काम कर रहा है जबकि नरक में जाने का काम था उसकी तपस्या और उस तपस्या ने क्यों गुंडा यहां पर क्या जुलम कर दिया तो उसमें निरंजन ने हमें बहका लिया और हम तैयार हो गए उसके साथ इस इक्कीस ब्रह्मंड में रहने के लिए तब सतपुरुष ने कहा भाई ठीक है तुम नहीं जाना ही चाहते हो तो पर एक काम करियो इस सतनाम ने सार नाम न मत बोलियो और इससे तुम मुझे पुकारोगे तो काल तक दूर हट जाएगा और मैं तुझे यहां ले आऊंगा अब निरंजन ने क्या करा वो सतनाम और सारनाम कथी खो दिए धरती पर तो बाकी छत्तीस नाम चला दिए एक हजार नाम तो विष्णु जी के दरवा दिए सैंसर नामा बोल रहे उसने जो इसका जाप कर लो ओम मंत्र चालू कर दिया अपने घर पे अब बंदी छोड़ दे गरीबदास जी ने आकर ये सोहम मंत्र कबीर साहब ने आकर सोहम मंत्र चलाया और फिर कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए सार शब्द हम गुप्त छिपाए अब सार शब्द का हम निरंजन को भी बेरा नहीं पाटने देते बंदी छोड़ उस अधिकारी प्राणी को देते हैं जो कति पक्का होले सतगुरु के चरणों में ओंकार है वेद को मूला ओंकार में सब जग बोलिया यही ओंकार निरंजन जानो और गुप्त नाम पुरुष नाम यानी परमात्मा सत्पुरुष का नाम सो गुप्त अमानो समर्ति शास्त्र पुराण बखाण्या समर्ति शास्त्र पुराण बखाना बखाना माने वर्णन किया और इनमें सकल जीव उड़ जाना इनमें इन शास्त्रों में पुराणों में ये सभी जीव उलझा दिए जीवों को ब्रह्मा भटकावे अब ब्रह्मा जी ने बेचारा क्या करे उसको विज्ञान वेदों तक आई है और वेदों के ऊपर आधारित वो पूर्ण जानकारी देता है लेकिन जन्म मरण और काल से छुटकारा कोई नहीं जीवों को ब्रह्मा भटकावे अलख निरंजन का जानदर डावे अलख जो दिखाई ना दे निरंजन वो परमात्मा अर्थात निराकार शक्ति निरंजन निरंकार का ही ध्यान विधि बताता है वेद मते सब जीव ब्रह्माणे वेदों के आधार पर सिर्फ जीवों को गुमराह कर दिया बरमा दिए और सतपुरुष का कोई मर्म न जाने उस पूर्ण परमात्मा का तय किसी अनबेरा भी कोई नहीं निरंकार का स्कीन तमाशा इस निरंकार ने किस प्रकार चाला पाया सौ चरित्र बुझो धर्मदासा ये खेल बुझो इस काल ने किस प्रकार हमें गुमराह कर दिया निरंकार जिसको तुम निरंकार शक्ति कहते हो तो ही एक निरंकार कहते यू काल है निरंजन है निरंकार का स्कीन तमाशा सोच रित्र बोझो धर्मदासा अब ये बोझ भाई मैं तुझे बताऊं धर्मदास असुर हो जीवों को सतावे असुर यानी राक्षस बनकर जैसे कंस बना दिया स्वयं क्योंकि वही शक्ति जैसे भागवत देवी भागवत में कहा है माता ने और निरंजन ने माता ने कहा कि भाई अगर हम अपनी शक्ति को ले लेना वापस तो यहाँ तो कुछ भी कौन है ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव जी किससे योग्य कौन है ये सब जीव ये सब मेरी ही कृपा से और हमारी ही उससे चल रहे हैं तो एक तरफ तो यहाँ पर कितना जैसे यहाँ पृथ्वी का नियम देखो फलदार वृक्ष तो थोड़े और झार जंखाड़ गेला उगा इसी प्रकार नेक आत्मा थोड़ी और कुबद्धि जीव गणे हो गए तो ये भी निरंजन ने तो बनाए एक तरफ तो कंस बना दिया और फिर बनाया भगवान विष्णु भगवान तो ही स्वयं इस ब्रह्मा विष्णु भगवान भी कि <laughs> निरंजन ने ही प्रेरणा देकर अवतार दरवाया और फिर आकर कंस मार दिया पूतना मारी फलाना मारा है और भाई सुख भी दिए राक्षसों को सताने वाले राक्षसों को मारा जो उनकी संतों को सता रहे थे तो इस प्रकार उनकी इतनी महिमा देख कर कंस जैसा राक्षस जो किसी का काबू ना होता और भगवान कृष्ण ने पकड़ कर टीट भी खत्म कर दिया गर्दन दबोच कर और वहां मारा उनके महल में जाकर पीटा वाह वाह होगी क्यों इसे बूढ़े राक्षस तो सबकी पीठ हृदय काप्या करते तो भाई वाह वाह भी साची क्यों उस समय तो वही संरक्षण है संरक्षक है हमारा उस मौके पर ऐसे संकट में जो बचा दे वही हमारा संरक्षक है और वही महिमा भी उसकी ही पड़ेगी लेकिन महाराज कहें ये निरंजन के खेल थे एक तरफ तो ऐसा क्रम करवा दिए उनको अपने ही शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा मरवा दिए अब ये भोड़ी वाली आत्मा उस पर केंद्रित होगी भगवान कृष्ण पर कि इसने रकंस मारा इसने पूतना मार दी इसने केसी मारा चाणूर मारा हाँ? शिशुपाल की गर्दन काटी तो भाई अट्रैक्शन आकर्षण स्वाभाविक है अब इन्हीं को परमात्मा स्वीकार करके गुणगान शुरू हो गए ठीक है जितना इन्होंने किया इतना तो सत्य है महाराज नकारा नहीं करते ये तो जैसे एसपी है गुंडा ने कूट दे अंदर कर दे ठा दे तो इतना काम से इनका एसपी से ऊपर शक्ति और भी गणी रहेगी ना अब हम पुलिस ने ज्यादा महत्व तो देते हैं आम अधिकारी को तो। पुलिस का तो चाहे थ्री ती, तीसरी क्लास का यानी क्लास थ्री अधिकारी हो आदमी कर्मचारी हो थानेदार वगैरह और भाई चाहे दूसरे महकमे का चाहे वन क्लास ऑफिसर हो उससे ना डरते आप क्यों उसके डंडे डर है और डंडे डर लग गया उसकी वर्दी न्यारी दिख है और भाई काख में पिस्तौल टांग रहा इसी प्रकार ये बेस ये भगवान थे जितने ये सारे को तो धनुष ले रहा को गदा ले रहा और कोई सुदर्शन चक्कर इसलिए इन तो साचा डर लग गया ये सब ना ठीक कर दें सब ना नहीं कर सकते उनके जो बदमाश लोगों ने राक्षसों को मारते लेकिन जो काम और अधिकारी रह गए वो इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है प्रधानमंत्री कभी वर्दी नहीं पहनता ना पेस्ट्रोल टांगता पर वो बहुत शक्तिशाली है इसी प्रकार हमने उनको ज्यादा महत्व दे लिया उनका बेरा कौन था हम इस स्थिति में हैं जैसे आज से पचास वर्ष पहले हिंदुस्तान की हमारी जो बुद्धि थी हमारे अंदर अज्ञान इतना था हम बहुत डरा करते थे हमारे पूर्वज एक सिपाही आ जनता सब बदगाम की घी बन जाती लोग त्याडिया करते खेता में भाग जाते डरते ज्ञान नहीं था बेचारा ने और वो सिपाही भारी हो रहा था अब ज्ञान हो गया एसपी घूमे जाओ गांव में ठीक है जाते हैं उनसे बात करते हैं आदर से वो उनसे आदर से बोला और फालतू बोला तो कह देना जी गलत नहीं बोला करते उनको मालूम होगा कि इनके तो ऊपर और शक्ति है एक बार जाएंगे गिगी बन जाएगी एसपी की भी इसी प्रकार अब हमने ज्ञान हो गया हम तो इतने देवी देवता मुड़ जो बैठे थे उनके भी पुत्र भूता में अब पता चले इन और शक्ति है उन तमेलों मेलों में पाचक करिए आपका कुछ नहीं कर सकते तो उस शक्ति तक आप पहुंच नहीं पा रहे आपकी इतनी निम्न बुद्धि है अभी हमारी तो ये ज्ञान रह रहकर इसलिए कराया जा रहा है कि आपका हृदय से भय निकला आपका डर निकले इन मंडी पूजनता है एक चूल्हे जितनी ईट लाकर खेत में मंडी बना ली और उसते घी घी बंद जो चढ़ाव चढ़ावे पूड़े पानी चढ़ावे कुकरम पात रखा जो चलावे राम का नाम भी कोई ना जो शक्ति जो इन समाधान करें दुखों से उसका पता भी कोई नहीं तो कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा कि तुम ठीक है सतलोक का ना जी करता कम से कम यहाँ की भक्ति तो ठीक कर लो उस दिन स्वर्ग में तो ठीक ढंग कर ही रहोगे तुम वो भी हम ही देते हैं वो मार्गदर्शन वो पूर्ण भक्ति भी भगवान कबीर ब्रह्मा विष्णु में इसकी वो भी हम इसे ही बताते हैं ये माता मसाणी नहीं पूजनी चाहिए उस परम पिता जैसे यहाँ के कुल मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश है इन तीनों की भक्ति करो और इनकी भक्ति हम बताते सबसे पहले क्योंकि इनसे मेल घना जरूरी है जैसे हम रहे किसी क्षेत्र में वहां की संरक्षण पुलिस ही किया करती है और उसी को संपर्क में लेकर रहना पड़ेगा तो यहां कह रहे हैं निरंकार कस की तमाशा अरसो चित्र तुम बूझो चरित्र बूझो धर्मदासा असुर हो जीवों को सतावे असुर यानी राक्षस बनकर एक तरफ तो राक्षस बनकर जीवों को सतावे और देव ऋषि मुनि कारकम और पुण्य दर अवतार रक्षक और असुर कर संहारकम एक तरफ तो कंस बना दिया और वही नरेंद्र ने फिर उधर से अपनी दूसरी शक्ति अवतार भेज दिए उन वो गढ़ दिए उन उनको अपना साथी मान लिया हमने ब्रह्मा विष्णु शिव और राम और कृष्ण को अवतारों को अपना साथी मान लिया जीवों को दिखला कर लीला अपनी महिमा गणी और यही जान जीवों को बांध के आशा यही है रक्षक दमी हमने सोचे कि यही हमारे रक्षक हैं यही हमारे साथी हैं इन्हीं पर आधारित हो गए रक्षक कला दिखा अंत काल भक्षण करे और पीछे जीव पछतावा जब ही काल के मुख पड़े अब अब तो जैसे क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कबीर साहब दोष नहीं मानते और ना ही इनको नो कहते ये गलत है इनका अपना काम जो दे रखा निरंजन ये पूर्ण करण से और विधिवत करें ये तो हमारे रक्षक हैं अगर देखा जाए तो लेकिन काल से नहीं बचा सकते ये पाड़ी हैं तीन हमारे हम इनके डोर से चाहे देवता लिए और चाहे मनुष्य और चाहे पशु पक्षी सब जीव ये हम इनके ढोर हैं इस निरंजन के और नरेंद्र ने इन तीनों देवताओं को मारा पाड़ी बना रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है कबीर साहब ने यहां तक संज्ञा दी है इस नरेंद्र भगवान को जैसे कसाई बकरे पालता है एक लंबा चौड़ा बाड़ा बनाता है उसके लिए एक खुला मैदान बनाता है उनके लिए उसमें पानी की व्यवस्था करता है और छाया बनाता है उनके बढ़िया सैड और उनको फरी छोड़ है उनके बालक बच्चे भी होश है नर मादा भी होती है उनका बालक हो उनमें ममता भी न्यों की होती है और उन होते हैं ना वहां पर बकरे किसी के एक बच्चे को दूसरा बकरा मार देना उसकी गेलना दूसरा बकरा आकर सिर फुड़वा ले अब मेरे बच्चे को तुमने कैसे छेड़ दिया यही राग द्वेष यही मोह ममता जो हम में है वह उन बकरों में भी ज्यों की त्यों है और उस खुले बाड़े में उसी को अपना वो पूर्ण जीवन समझ रहे हैं और उसमें मौज मार रहे हैं एक दूसरे का चारा खा जाते हैं उसको सिंगों से मार देते हैं उसको भगा देते हैं आप बैठ जाते हैं वहां यही काम हम कर रहे हैं दूसरे की जायदाद अड़प लिया किसी के प्लाट का कब्जा कर लिया भाई गिर भाई ने दुश्मनी कर लिया है घर में लड़ाई रखे मेरे बच्चे दूध ना पेंगी हैं मैं ऐसे कर दूंगी ये शर्फ अन्यों के हैं कि जिस प्रकार कसाई के बकरे वहां पर ऐसे ही विचार रखते हैं जैसे हम मनुष्य शरीर में उनके तीन पाली बना रखे हैं एक पाली है कि बाहर से बकरी लावे और उसमें कसाई के बाड़े में रोक दे एक पाली है उसके खाने चारे का और पानी का प्रबंध करवाता है अन्य नौकरों द्वारा और तीसरा पाली है तीसरा व्यक्ति जो ला रखा उसको पकड़ कर उनके कान और कसाई के उसमें हथे में जा छोड़ा जितने की आवश्यकता हो दस की पांच की रोज खपत जितनी है तो इसी प्रकार वो कसाई जब आता है वहां पर तो बकरों को देखता है हाथ ला के दिन में दो दो गेड़े तीन तीन चक्कर लगाता है कसाई तो वो बकरे उस कसाई का ऐसे मुंह से लाड करते ये समझ के कि ये हमारा मालिक है ये हमें चारा खिलाता है ये हमें पानी का प्रबंध किए हुए है इन्हें देखिए बढ़िया हमारी खातर सेड बना रखे हैं कितना लंबा चौड़ा मैदान बना रखा पानी का न्यारा प्रबंध है ये हमारा मालिक है और वो नो देखा यो कै किलो का हो गया भाई कितने का बकेगा थोड़े से दिन में तो हम महाराज कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में हैं हम काल न भगवान मान रहे हैं क्यों इसने पानी देख भाई पवन है और धरती कितनी बढ़िया बना रखी आकाश बना रखा चांद सूरज ला रखे क्या खातर ला रखे पर न्यो ना मेरा ये उसका साई कितनी बलोई बैठा तुमने अंत में थारी वादरुक्ति करेगा तेरे बच्चे भी खावर तुम न भी खावे तो अब इस परिभाषण को समझ गया तो फिर तो बात बुद्धि में बड़ी रहेगी और इसने कोई कहानी समझा से तो उसकी बुद्धि इतना काम करेगी इस अरचौड़े में दिखने लग रहा ऐसी बहन हमारे पास आई भाई एक का लड़का था पिता मर गया छाती में सबर किया कि लड़के दिन तोड़ूंगी और जब 10-15 साल का बालक हो लिया वो भी मर गया टक्कर मार का Λοναβαίωσα ο तो अब तो दावामा माई बाखिर में तो ये ऐसे जुलमकाल देव ने मारी गलियां कर रखी और पूजा फिर इनने की देवी देवता की तो यह समझ में नहीं आई बंदी छोड़ कहते हैं कि या ये समझ में आओ मारी बात सुनो और हमने तुम दुश्मन मान रहे नो कह ले बताए तो ब्रह्मा विष्णु महेश नबी बिसरावा से बिसराना किसे कहते हैं बिसराना किसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम तीन लोग के भगवान ना बताते हो हम ये ना मानते हैं उसने कंस मार नहीं मारा हम ये ना मानते हैं उसने रावण ना मारा हम ये ना मानते हो कि पूतना ना मारी या हम ये ना मानते हो कि सुदामा का दारिद्र मोक्ष नहीं करा उनका टोटा नार लिया ये हम सब मानते हैं लेकिन इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते जन्म मरण ये नहीं मिटा सकते शास्त्र ठाकर देखो इनका स्वयं का नहीं मिटा अर्जुन तेरे मेरे असंख्य जन्म हो लिए तेरा याद को ना मुझे क्या ना भाई इतना फर्क से तो पता इसमें हमने हमारे कबीर भगवान ने किनारा कह दिया इन ये कहा कि इससे ऊपर और शक्ति है ये कालाधीन है और देवी पुराण में आपने सुना कि काल के अधीन होकर के काल की प्रेरणा से इन्हें सृष्टि रची विष्णु जी ने तमन्ना हुई रचन की और फिर माई की कृपा से सृष्टि रची उसके आदेश पर और गीता जी में जब विराट रूप दिखाते हैं आप सुनते हो भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया वो था निरंजन अंदर प्रेत की त्रिया और उसमें कहता है कि अर्जुन मैं इस सब लोगों का नाश की खातर है यानी इस ब्रह्मंड में मेरे में और महाकाल हो सब न खाऊं और फिर देख ले पैदा करूं कबीर साहब कहें चौड़े में कह लाग रहा मैं सबका महाकाल सू और सबको खाता हूं और फिर पूछ जाए की कर रहे तो यानी फिर बिना सुन मानती ने कहा ना ये तो भगवान था तो भगवान तो हम भी कहें एक शक्ति का नाम है भगवान जिसमें जितनी शक्ति है उतना तो भगवान से है भाई मालिक से मालिक कहते हैं मालिक भगवान को <coughs> भला मान चाहे बोरा मान एक ओछी चली चाल तन सत बोला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने भला मान चाहे बोरा मान एक ओछी चली चाल तने सतपुर से बोला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची का <coughs> वेद पुराण कुरान बना के ओछा कछ दिया ज्ञान तन सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने वेद पुराण कुरान बनाए ओछा कछ दिया ज्ञान तन सुख संवेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने वेद कते निराकार बतावे साकार कहें पुराण तन अपनी महिमा आप गाई ये जीव कह भगवान तने वेद कतिब निराकार बतावे साकार कहें पुराण तने अपनी महिमा आप गाई जीव कह भगवान तपत सला पै कखावे जीव किए घड़ काल तन सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तन भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तन सतपुरस बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची <clears throat> ऋषि मुनि सब कर तपस्या ए भगवान हमें मोक्ष दिए तप करवा के राज दे दिया लख चौरासी में ठोके दिए ऋषि मुनि सब कर तपस्या हे भगवान हमें मोक्ष दिए तप करवा के राज दे दिया लख चौरासी में ठोक दिए पांच तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गड़े में तोड़ दिए पांच तत्वों की कैद बना कर इसके अंदर रोक दिए मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म गले में तोक दिए काम करो अहंकार लोभ का खूब बना दिया जाल तन सतपुरुष बुला दिया आप जना कुछ न सोची काल नहीं भला मन चाहे बुरा मन एक ओछी चाली चाल तन सतपुर से बुला दिया एक माई का पति वा दुख में माथा फोड़ थी मेरे बेटे की तो खैर राखी है न्यू हाथ तेरे तन जोड़ एक माई का पति मरिया हुआ दुख में माथा फोड़ थी मेरे बेटे की तो खैर राखिए न्यू हाथ तेरे तन जोड़ उस दुखिया का एक बेटा बेटे बदन तोड़ थी अपने पूत की खैर के ताही तेरे देई धाम को दौड़े उस दुखिया का एक बेटा बेटे पदन तोड़ा छी अपने पुत की खैर के ताही त्रिदेई धाम को दौड़े थी उसके आगे ओ भी खा लिया कति करी न टाल तन सतपुर से बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने भला मन चाहे बुरा मन ओछी चली चाल तने सतपुर से बुला दिया आप जना कुछ ना सोची काल एक तरफ तो कंस बनाया बनाया कृष्ण भगवान तू ही अपना स्वार्थ सद करने को ये बना दई चारों खान तुई एक तरफ तो कंस बनाया बनाया कृष्ण भगवान तुही अपना स्वार्थ सद करने को बना दी चारों खान तुई सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी है बुरे कर्म ते आने हुई सतगुरु जी की मेरे हुई तब अमन तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी ये छुट इन बुरे कर्म ते आने हुई राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया राम पालतन सतपुरुष बुला दिया आप जना कुछ ना सोची काल तने भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चली चाल तने सतपुरुष बुला दिया आप कुछ ना सोची काल तने साथ साहे अब इसमें विचार कीजिएगा सतगुरु के आधार पर ये शब्द आपको बना सुनाया अब काल पुरुष ने निरंजन भगवान ने इतना ऐसा धोखा किया है कि दुश्मन भी दुश्मन भी ना कराए यहाँ पर आप देखो किसी शास्त्र का किसी शास्त्र से मेल नहीं इन्होंने अपने बच्चों को भी ठीक ढंग से अपना पूरा भेद नहीं दिया तो और न तो देंगे क्यों करें देवी भागवत कल मैंने सुनाई आप ताई उसमें भी असमंजस में थे हम पैदा किसने कर दिए और कहां से हो गए और जब माता की महिमा देखी तो मान लिया कि तू हमारी मां से आपने हमें पैदा किया तेन बोली भाई देख लो अब तुम ना कोई संकट आओ तुम्हारे पे ब्रह्मा विष्णु में इसको माई कहती है आठ भुजा वाली शेरा वाली यह इनकी मां से और निरंजन इनका पिता है वो निराकार है उसको दिख है कोई ना गुप्त शक्ति में काम करे से और वो आकार में अपने लोक में रहता है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश और माता नहीं जा सकते और आम जीव तो जावे कैसे तेने बोली भाई तुम्हारे पे तुम सृष्टि रचो ब्रह्मा तो सृष्टि यानी जीवों के शरीर बनाओगा विष्णु जी पालेगा और शिव जी मारेगा ये तुम्हारा काम से और भाई एक काम करना तुम्हारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो मुझे याद कर लेना मैं थारी मदद करूंगी और एक और सुनना मेरा और सनातन परमात्मा उस नरेंद्र भगवान ने बोलियो मितना अर्धम याद रखियो थरे काम से रह जाएंगे अब ब्रह्मा विष्णु महेश को क्लियर कर दिया आदि पुराण भागवत पुराण में देवी भागवत में कि ये पूर्ण रूप से उनकी शक्ति से चल रहे हैं इनका अपना कोई औचित्य नहीं है स्वयं मानते हैं उसमें कि माता अगर आपकी शक्ति हमारे से निकल जाए तो हमारे पास कुछ भी ना बचे आपकी कृपा ही चल रही है <coughs> एक कहने लगा कि मैं तो देखो आप कितनी कह लो हमारे तो बुद्धि में यह बात बढ़ती है कोई ना कि ब्रह्मा विष्णु में इस समय कोई शक्ति कोई ना ये तो पूर्ण से भाई क्यों कर बुद्धि हटाऊ थारी ठीक से तो आप मान रहे मानते रहो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ <coughs> पर एक बात बता एक समय कहते हैं अनुसुईया की चर्चा सारे लोका में होगी कि बहुत सुंदर और भागवान औरत से और बिल्कुल सौ की सौ सती है ये चर्चा पहुंच गई स्वर्गलोक में भी विष्णु लोक में भी और लोक में शिवलोक में अब वो तीनों की तीनों पटरानिया यानी तीनों वो माई इस बात का बड़ी महसूस कराया उन्होंने कि भी मारे तो भी सुंदर और मारे हमारे से भी ज्यादा कोई सीखी होगी दुनिया में बाउंडर महाराज है हमारे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता हम तीन लोग की मुखिया हैं तो उन्होंने सोचा अगले उसके देखा उसके सती धर्म ने किसा से तीनवा ने अनसन कर दिया उनके पति आए ब्रह्मा विष्णु में साहब अपने घर पे वो बोले क्या बात है खाना नहीं खाया आज काम नहीं किया कि ये चक्कर है वो कहने लगी कि हम <clears throat> हमको नहीं खाती खाना खुना आज अखबार तो बता अखबार जो बताऊंगी मारी वचनबद्ध हो जाओगे मारा काम से उन्हें सोची औरत की गणत गणी मांग हुआ कर एक साड़ी और ला दे गणा करके बुजनी बनवा दो इससे ज्यादा बेचारी अनबेरा है ना उनका अगले ठीक से वचनबद्ध सही <clears throat> तो तीनों पहला बतला रही थी कि भी ऐसे ऐसे हम के साथ है ना उस अनुसुईयान देखेंगे किसी सती है तो वो कहने लगे कि उस अनसुईया का तुम सत तोड़ दो तीनों ने एक ही बात रिट्रैक की थी अपने अपने पति को कह दिया गर्मा को सावित्री ने लक्ष्मी ने विष्णु जी को और पार्वती ने शिव को वो कहने लगे वाह तुमने कैसे दे भाई ईसा नाजाज ईसा नादान फैसला क्यों लिया तुमने न बोली बस कुछ भी हो ना तो वचन फिर तो फिर जाओ और वचन तो फिर अदा कोड लग गए ने बोला ठीक सर फिर हम सब तोड़ांगे नकम्मी फिर हम कितना जाएंगे